विक्रांत के जाने के बाद सिटी चीफ संजय सर भी वापस वैन की तरफ लौट पड़े उधर वैन के भीतर बैठे डीसीपी डिसूजा सर मौत से सिगरेट की कश ले रहे थे क्या कर रहे हैं यार हद है तुम्हारी भी शीशा बंद के सिगरेट पी रहे चीफ संजय साहब ने डिसूजा की तरफ देखते हुए कहा उनके इतना कहते ही डीसीपी साहब ने भी सिगरेट को फेंक कर अपने पैरों से जोर लगाते हुए मसल दिया फिर संजय सर भी गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए वो गाड़ी के शीशे से ही विक्रांत को दूर जाते हुए देखते रहे विक्रांत अभी भी किसी से फोन पर बात करता हुआ चला जा रहा था जैसे ही विक्रांत उनकी नजरों से ओझल हुआ तुरंत ही चीफ संजय साहब गाड़ी की स्टेयरिंग पर हाथ पीट पीट कर हंसने लगे <laughs> <laughs> संजय सर के साथ ही डीसीपी डिसूजा भी ठाके मार के हंसने लगे तुम तुम भी कोई और बीमारी नहीं बता सकते थे मैं, मैं क्या करूं जो उस टाइम लगा बोल दिया और मैं तुमने भी तो ऐसी एक्टिंग की थी कि मानो अभी बस मरने ही वाले हो तुम्हें पुलिस के बजाय एक्टर बनना था या यार कमाल हो गया आज तो अच्छा एक बात बताओ तुम तुमने सच में उसके सिर पर बुके से मारा था <laughs> चीफ संजय साहब ने हंसते हंसते पूछा हाँ यार क्या करता वह मेरी तो हंसी निकलने वाली थी उस टाइम और वो भी बहुत शार्प लड़का है करना पड़ा मुझे ये सब अगर हम उसे फिर से ड्यूटी ज्वाइन नहीं करा पाते तो हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ता हाँ वो तो है लेकिन सिटी चीफ संजय सर ने कुछ सोचते हुए कहा मुझे नहीं लगता कि वो नौकरी छोड़ने के बारे में सोच भी रहा है जिस पागलपन से उसने मंजू के मर्डर को पकड़ने के लिए काम किया है उसे देखकर तो कतई नहीं लग रहा कि वो कभी पुलिस की नौकरी छोड़ने के बारे में सोच भी सकता है हम्म, अब जो भी हो मैंने अपना काम कर दिया है अपनी डायरी उस तक पहुंचा दी है अब देखो वो मेरे पुराने केसेस सॉल्व कर पाता है या नहीं यार संजय ऐसा क्यों नहीं करते तुम शर्त लगाओ मेरे से डीसीपी डिसूजा ने चहकते हुए कहा नहीं नहीं मैं अभी कोई शर्त नहीं लगा रहा देखते हैं क्या होता है मुझे तो बस चिंता इस बात की है कि ये लड़का आगे जाकर फिर से खुद के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे अभी तो हमने संभाल लिया है लेकिन आगे देखो क्या होता है सिटी चीफ संजय साहब ने चिंता दर्शाते हुए कहा कुछ भी हो तुम्हें इस लड़के का ध्यान रखना है मुझे ये लड़का बहुत पसंद है इसके अंदर आग है आग और हमें उसी की जरूरत है हम्म वो तो मैं रख ही रहा हूँ लेकिन संजय सर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा अभी इसने कहा कि वो खालिद सिद्दीकी को सबक सिखाने जा रहा है मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि खालिद के साथ अब क्या करने वाला है अब तक शाम के लगभग चार बज चुके थे इस वक्त विक्रांत मुंबई के हाईवे पर मौजूद उसी टीप शॉप पर बैठा था जहां पिछली बार उसने खालिद सिद्दीकी को धोया था विक्रांत एक ओल्ड सी आर्म चेयर पर बैठकर वहां लगे बोर्ड को पढ़ रहा था खालिद स्पेशल टी शॉप चाय की दुकान के नाम पर सही धंधा बना रखा है तुमने कितने लोग काम करते हैं तुम्हारे साथ विक्रांत ने अपने ठीक सामने बैठे खालिद की तरफ देखते हुए पूछा खालिद की आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी मानो अभी वो विक्रांत को कच्चा चबा जाएगा ठीक उसके पीछे खालिद के तीन चार आदमी अपना हाथ बांधे खड़े थे उन्हें भी मानो बस खालिद का इशारा मिलने की देर थी और फिर वो विक्रांत पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ते वैसे विक्रांत तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी मैं खुद तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम तो खुद ही मेरे सामने आकर बैठ गए हो <laughs> क्या बात है खालिद ने विक्रांत की तरफ घूरते हुए कहा लगता है तुम्हें इस पुलिस की वर्दी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें एक सेकंड में चींटी की तरह मसल के खत्म कर सकता हूँ खालिद ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा उसके इतना कहते ही खालिद के आदमियों ने भी अपनी मुठ्ठियां बांध ली अब बस उन्हें अपने बॉस के इशारे का इंतजार था और एक झटके में विक्रांत का काम तमाम ओहो तुम समझे नहीं यार जब देखो मारने काटने की बातें करते हो मैं मैं तो तुम्हारे लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आगे आया था देखो तुम्हें भी गुस्सा बहुत जल्दी आता है और अपना अपना भी कुछ वैसा ही हाल है तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं तो फिर हम धमाल मचा सकते हैं क्या कहते हो अच्छा दोस्ती करनी है तो ठीक है फिर मैं भी तुम्हारी एक टांग तोड़ देता हूँ उसके बाद फिर हम उस टॉपिक पर सोच लेंगे खालिद ने विक्रांत को शैतानी नजरों से घूरते हुए कहा अरे यार सच ही कहा गया है लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते छोड़ो यार चलो फिर पिटने के लिए रेडी हो जाओ इतना कहते हुए विक्रांत ने खड़े होकर अपनी चेयर पीछे खिसका दी और फिर अपने हाथ और गर्दन की हड्डियों को चटकाने लग गया उसे खड़े होते देख खालिद ने तुरंत अपने आदमियों को इशारा किया दो आदमी आगे आकर खालिद को कुर्सी समेत उठाकर पीछे ले गए और फिर तुरंत ही चार छह ने आगे आकर विक्रांत को चारों तरफ से घेर लिया सभी एक्शन मोड में आ चुके थे विक्रांत एक चीज याद रख लो मेरी शॉप पर चारों तरफ कैमरे लगे हैं यहाँ एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है अगर तुम पहले कुछ करने की कोशिश करते हो तो फिर हम भी अटैक करने में पीछे नहीं रहेंगे खालिद ने विक्रांत को समझाया हे मैं मैं तो यहाँ चाय पीने आया था और तुमसे दोस्ती करने आया था लेकिन विक्रांत अभी अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि अचानक से खालिद का फोन बच पड़ा खालिद ने फोन उठाया तो पता चला कि नरीमन पॉइंट पर उसके फिश स्टोरेज पर पुलिस का छापा पड़ गया है पुलिस को शक था कि फिश के जरिए ड्रग्स की सप्लाई की जा रही